www.attableek.com, the reviver of Iman. साथियों आज आप लोगों के द्वारा हिंदू मुसलमान का एकता सम्मेलन आयोजित किया है बहुत अच्छी बात है अच्छे काम के लिए आप लोगों ने एकता सम्मेलन आयोजित किया है इसके लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं मगर इस बात को जानना जरूरी है कि जिन लोगों की आप एकता स्थापित करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमान की तो मुसलमानों के बारे में तो आप जानते हैं मगर हिंदुओं के बारे में आप लोगों को तफसीली जानकारी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्लोगनों में एकता कायम करना और जमीनी स्तर पर एकता कायम करना दो अलग अलग बातें हैं अगर हम लोग जमीनी स्तर पर एकता कायम करना चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है और इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने अर्ज करना चाहता हूं जिस पर आप लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना जरूरी है आप हिंदू मुसलमान की एकता स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा हिंदू कौन है आखिर जिनके साथ आप एकता कायम करना चाहते हैं वो है कौन तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू का मतलब है मुसलमान की तरह हिंदू नाम का धर्म है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदू नाम का कोई मजहब कोई धर्म है नहीं वेद में श्रुति में स्मृति में पुराणों में रामायण में महाभारत में हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है अगर हिंदू नाम का शब्द ही नहीं है तो निश्चित रूप से आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये हिंदू कौन है तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को जिनको संविधान में शेड्यूल कास्ट कहा गया है जिनको ब्राह्मण धर्म के अनुसार अछूत कहा जाता है अछूत का मतलब है जो लोग छूने के लायक नहीं है इंसान तो है मगर छूने के भी लायक नहीं है जिन लोगों ने उन लोगों को छूने के लायक नहीं समझा आप लोग उनको हिंदू कहते हैं ब्राह्मण भी उनको हिंदू कहता है आप लोग भी उनको हिंदू कहते हैं आखिरकार मुझे अपना दर्द तो आप लोगों के सामने रखना होगा मेरी जो समस्या है मेरा जो दर्द है मेरा जो दुख है वो आप लोगों के सामने रखना होगा इस देश में लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म के अनुसार जिसे आप हिंदू धर्म कहते हैं उस धर्म का वास्तविक नाम ब्राह्मण धर्म है इसलिए इसे जानना इसे समझना बहुत जरूरी है तो लगभग 20 करोड़ लोग हैं जिनको इस देश में छूने के लायक नहीं समझा गया है और जिस धर्म के लोगों ने इनको छूने लायक नहीं समझा उसे आज के तारीख में ब्राह्मण धर्म के लोग हिंदू कहते हैं और आप भी उनको हिंदू कहते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हिंदू कौन है दूसरे लोग हैं आदिवासी जिन लोगों को जंगलों और पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया जिनको भारत का सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू नहीं मानता शायद आप में से कुछ लोगों को यह जानकारी होगी कि 2001 में एक आदिवासी महिला सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने सुप्रीम कोर्ट को यह अनुरोध किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं इसलिए आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं किया जा सकता और उसके आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता यदि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट के विरोध ऊपर कोई कोर्ट कोई अदालत तो है नहीं तो इसे जानना इसे समझना जरूरी है तो इसलिए ये बात भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दूसरे और लोग हैं जिनको नोमेडिक ट्राइब कहा जाता है ये लोग भी बहिष्कृत लोग हैं अंग्रेजों के समय में इन लोगों को अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जरायम पेशा जाति कहा तो इन लोगों को अपराध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखा इनको बहिष्कृत किया और अपना पेड़ भरने के लिए इनके सामने अपराध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रखा ऐसे लोग भी दस बारह करोड़ लोग हैं जिनको नॉमेडिक ट्राइब या क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता है तो इनको भी हिंदू कहा जाता है आपको पता होना चाहिए कि आखिर हिंदू है कौन उसके बाद है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोग वो बैकवर्ड भी नहीं है बैकवर्ड में भी बैकवर्ड है और मोस्ट बैकवर्ड है और मंडल कमीशन के द्वारा उनको मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है मैं कोई अपनी जाति बात थोड़ी बता रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मंडल कमीशन बनाया था उसके रिकॉर्ड में ये बातें लिखी हुई है और रिकमेंडेड है इसलिए कोई काल्पनिक बातें मैं अपने आप का नहीं कह रहा हूं तो इनको भी हिंदू कहा जाता है दूसरे लोग हैं और बैकवर्ड जिनको वर्णा सिस्टम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं माना जाता उनको शूद्र माना जाता है शूद्र का मतलब है अधिकार वंचित और अधिकार वंचित का मतलब होता है गुलाम जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानकर गुलाम घोषित किया गया था उन लोगों को भी आज ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब लिखने के लिए लिया था उस किताब का नाम था what Brahmins have done to the Hindus इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने हिंदुओं के लिए क्या किया इसका मतलब ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ये मानते थे कि ब्राह्मण अलग है और हिंदू अलग है ब्राह्मण अलग है हिंदू अलग है तो क्या मुसलमान भी ऐसा ही मानते हैं या ब्राह्मण और हिंदू दोनों एक ही है ऐसा मानते हैं मैं तो ये मानता हूं कि हिंदू का मतलब है ब्राह्मणों का गुलाम तो क्या एससी एसटी ओबीसी के लोगों को यदि मुसलमान भी हिंदू मानता है तो हम तो ये मानते हैं कि हिंदू ब्राह्मणों का गुलाम है अगर हिंदू ब्राह्मणों का गुलाम है तो आप लोगों को इसके बारे में विचार करना चाहिए कि यदि हिंदू ब्राह्मणों का गुलाम है तो हिंदुओं को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए आपको विचार करना चाहिए कुछ करना चाहिए वो तो बात की बात है मगर पहले विचार तो करना चाहिए अगर आप अपने अंदर इस मुद्दे पर विचार ही नहीं करते हो तो ये तो लोग गुलाम बने रहेंगे तो आप हिंदू और मुसलमान की एकता कायम करना चाहते हैं अच्छी बात है मगर हिंदू कौन है तो जानना तो पड़ेगा जाने बगैर ही एकता कायम कर लोगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ऐसा तो संभव नहीं है तो ये जानना ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं दूसरी बात कि जिन लोगों को ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं उन लोगों को इस देश में आरक्षण दिया गया है ब्राह्मण उस आरक्षण के बहुत ज्यादा विरोधी है अगर ब्राह्मण भी हिंदू है और S C S T OBC भी हिंदू है अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं कि ब्राह्मण भी हिंदू है S C S T OBC भी हिंदू है तो ब्राह्मण इन हिंदुओं के अधिकार को जो संविधान ने दिए हैं वो मानने के लिए भी राजी नहीं है उनके वो अधिकार समाप्त करने के लिए कांग्रेस ने नब्बे में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम शुरू किया और सरकारी विभागों में इनके लिए आरक्षण था प्राइवेटाइजेशन में समाप्त कर दिया और उसी निर्णय पर उसी पॉलिसी पर आज केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो भी अमल कर रही है तो हमारे दृष्टि से कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी और कांग्रेस ये तो चचेरे चचेरे मौसेरे मौसेरे भाई भाई है आप जो तालियां बजा रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि शायद आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है तो मैं इस बात के लिए भी आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आ रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक अर्थशास्त्री भारत में भेजा गया था उस अर्थशास्त्री का नाम था सेन गुप्ता वो भारत में आया वो बंगाल का था वर्ल्ड बैंक में गया था वर्ल्ड बैंक ने कई लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को कर्जा दिया तो वर्ल्ड बैंक ने उनको भेजा जाओ ये जो कई लाख करोड़ रुपया कर्जा दिए उसको भारत के गरीबों का क्या फायदा हुआ जरा इसका डाटा इकट्ठा करके हमें बताओ सेन गुप्ता भारत आए भारत के प्लानिंग कमीशन के साथ उन्होंने मेल मिलाप किया और प्लानिंग कमीशन के साथ मेल मिलाप करने के बाद उन्होंने सारे देश भर में सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उन्होंने एक डाटा तैयार किया वो डाटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इससे आपको पता चलेगा कि देश की परिस्थिति कितनी गंभीर है उन्होंने डाटा में कहा उनतीस करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन छह रुपया है इसका मतलब है महीने का 180 रुपया उनका इनकम है एक आदमी का दूसरा स्लैब तैयार किया और बताया 26 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 11 रुपया है महीने का 330 रुपया है ये तो 26 करोड़ लोग हो गए उसके बाद तीसरा स्लैब बनाया और कहा कि 28 करोड़ लोगों का इनकम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 20 रुपया है महीने का 600 रुपया है ये सारे लोगों को मिलाकर आंकड़ा बनता है 83 करोड़ अब ये आंकड़ा 100 करोड़ हो गया होगा क्योंकि ये बात 2003-4 की है और ये आंकड़ा अभी सौ करोड़ के लगभग पहुंच गया होगा तो सौ करोड़ लोगों का इनकम मिनिमम प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो आय है वो छह रुपया है और मैक्सिमम बीस रुपया है तो ये लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हैं और इन लोगों को भूखमरी और अर्ध भूखमरी के कगारे पर किनारे पर पहुंचा दिया गया है जिनको आप हिंदू कहते हैं उन लोगों को देश की सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने भूखमरी के किनारे पर पहुंचा दिया है ये लोग अपने आप नहीं पहुंचे ये लोगों को भूखमरी के षड्यंत्र में धकेल दिया गया है अगर ये हिंदू होते और सरकार भी हिंदुओं की और हिंदुओं को ही भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया ऐसा तो नहीं होता और अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से वो सरकार इन लोगों को भूखमरी के षड्यंत्र से बाहर निकालती और निकालकर कम से कम भूखमरी के ऊपर पहुंचा देती ऐसा नहीं हुआ और इस तरह से 83 करोड़ लोग उस समय आज 100 करोड़ लोग हो गए उनकी स्थिति भूखमरी और अर्धभूखमरी के षड्यंत्र में फंसे हुए लोगों की है तो इन लोगों को उन ब्राह्मणों ने जिनका भारत के ऊपर कब्जा है ये कब्जा नाजायज है आज साढ़े तीन परसेंट ब्राह्मणों की संख्या है और देश में इनकी पांच नेशनल लेवल की पार्टियां है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है या तो इनकी देश पर सरकार है और अलग अलग राज्यों में इन्हीं लोगों की सरकारें हैं और कोई मुख्यमंत्री अगर बैकवर्ड है या तो वो कांग्रेस के सपोर्ट से है या तो बीजेपी के सपोर्ट से है इसका मतलब ये है कि सारे देश पर यही लोग काबिज है जिन लोगों ने इन लोगों को भूखमरी के कगार पर या अर्ध भूखमरी के कगार पर पहुंचाया हुआ है मैं इसलिए ये बात ये डाटा ये प्लानिंग कमीशन का डाटा ये भारत सरकार का डाटा है ये मेरा जाति डाटा नहीं है ये भारत सरकार के आंकड़े प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आप लोगों को बता रहा हूं जिससे आप लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है और अगर इन लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया गया है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब चुनाव आता है तो इन लोगों के वोटों को खरीदा जाता है और वोटों को खरीदने के लिए इन लोगों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाया गया है कोई आदमी वोट बेचना नहीं चाहता है मगर इन लोगों को वोट बेचने के लायक बनाया गया ताकि ये लोग वोट बेचने लायक हो तो खरीदार इनके वोट खरीद सके और जो अल्पसंख्य ब्राह्मण हैं जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते अगर साढ़े तीन परसेंट ब्राह्मण हैं तो गांव में वो सरपंच तो बहुत दूर की बात है वो ग्राम पंचायत का सदस्य संख्या के आधार पर चुन नहीं सकता वो जो चुन नहीं सकता ग्राम पंचायत का सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं चुन सकता वो ग्राम पंचायत का सरपंच क्या बना लेगा जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकता वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहे हैं ये षड्यंत्र हम लोगों को समझना होगा कल तक भूखमरी के कगार पर पहुंचे हुए लोगों के वोटों को खरीदकर ये लोग अपनी सरकार बनाते थे आज ईवीएम में घोटाला करके अपनी सरकार बना रहे हैं शायद भारत में मैं पहला आदमी हूं जिसके पास ईवीएम के घोटाले के दस्तावेजी सबूत है किसी के पास दस्तावेजी सबूत नहीं है मेरे पास है और मैंने इसे सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने केस दायर किया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया कि अकेले ईवीएम के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता फ्री यानी मुक्त फ्री यानी मुक्त फेयर यानी निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट कहता है और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए ईवीएम e मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया था मगर 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर पूछा क्यों नहीं लगाई तो उन्होंने कहा लगाई हमने पूछा कितनी जगह लगाई तो कहा नागालैंड और मिजोरम में लगाई और कितनी जगह लगाई तो उन्होंने हमें डाटा लिख कर दिया और कहा जो डाटा लिख कर दिया उसका परसेंटेज था 0.33 ये 0.33 का आंकड़ा आधा परसेंट भी नहीं होता है ये डाटा मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके आधार पर बोल रहा हूं और इस तरह से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 31 परसेंट वोट पड़े हमने चुनाव आयोग के इतने फैसले इतने पहले के जो भी दस्तावेजी प्रमाण हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है डाटा है उसको छानबीन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि 31 परसेंट वोटों पर आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली 272 सीटें नहीं मिली मगर 2014 को भारतीय जनता पार्टी को 272 तो छोड़ो 283 सीटें मिली 11 सीटें ज्यादा मिली मगर 31 परसेंट वोटों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को 2014 के पहले simple majority in two hundred and seventy two सीटें नहीं मिली तो 31 परसेंट वोटों पर 2014 में 283 सीटें कैसे मिली बहुत बड़े पैमाने पर आशंका की बात है दूसरी एक अहम बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मुसलमानों को खास तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है मेरी ये मान्यता है कि आज तक केंद्र में कोई भी सरकार मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी पहली बार मुसलमानों ने 77 में जब कांग्रेस का साथ छोड़ा तो कांग्रेस की सरकार गिर गई और सतहत्तर में जनता पार्टी की सरकार आई मैं कोई काल्पनिक बातें आपको नहीं बता रहा हूं मैं मेरे पास जो दस्तावेजी सबूत है उसके आधार पर बता रहा हूं जो एविडेंस है हिस्टोरिकल 77 में मुसलमानों ने कांग्रेस के विरोध में वोट दिया कांग्रेस चुनाव हार गई मुसलमानों ने जनता पार्टी को वोट दिया जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार आई ये इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में कोई भी सरकार नहीं आ सकती और अगर नहीं आ सकती तो 2014 में कैसे आई ईवीएम e में घोटाले के बगैर सरकार नहीं आ सकती आ गई साथियों इसे जानना इसे समझना बहुत जरूरी है 2004, 2009 इन चुनावों में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता ये आरोप डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में किया और सुप्रीम कोर्ट में नोटिस इश्यू किया 2013 को और कांग्रेस को जब नोटिस इश्यू हुआ तो कांग्रेस में हड़कम मच गया और इसका जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया और जब जवाब नहीं हुआ तो इन लोगों ने कांग्रेस के लोगों ने ये बात अहम है कि ये बात जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने क्योंकि ये केस लेकर जाने वाले जो लोग थे उन्होंने प्लान बनाया कि अगर ये खतरनाक षड्यंत्र एक्सपोज हो गया तो सारे देश भर में बहुत बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए पैदा हो जाएगा इसलिए कांग्रेस ने ये प्लान बनाया कि अडवाणी को कैसे रोका जाए ईवीएम के विरोध में अभियान चलाने के लिए रथ यात्रा निकालने के लिए कैसे रोका जाए क्या अरुण कुमार जेटली अडवाणी को रोक लेगा क्या सुषमा स्वराज रोक लेगी तो कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची कि रोकना संभव नहीं है इसलिए कांग्रेस ने आरएसएस के साथ गुप्त समझौता किया और कहा कि 2004 और 2009 में हमने घोटाला करके चुनाव जीता अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया ये जानकारी हमारे पास है तो आपको दस्तावेजी सबूत मिल गए हैं इसलिए हम भी इनकार करना नहीं चाहते हम इस बात को कबूल करते हैं कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता मगर आप चुप रहो बोलो मत आरएसएस ने कहा ठीक है हम चुप रहेंगे मगर चुप रहने के बदले में हमें क्या मिलेगा कि कहा कि हमने दो बार घोटाला किया आप 2014 में आप भी कर लो केंद्र सरकार हमारी है चुनाव का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है सारे देश में जो जिलाधिकारी है वो हमारे कर्मचारी हमारे अपॉइंटेड लोग हैं इसलिए ये सारे लोग आपको मदद करेंगे और मगर एक शर्त होगी ईवीएम e के विरोध में कौन ईवीएम e के विरोध में बीजेपी के लोगों को कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा आप भी ईवीएम e का फायदा लो और ईवीएम से चुनाव लड़ो और जीतो तो आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस को कहा आपने दो बार घोटाला किया और आप हमको एक कई बार घोटाला करने के लिए बोल रहे हो ये बराबरी का सौदा नहीं है तो कांग्रेस ने कहा कि क्या आप भी दो बार घोटाला करना चाहते हैं तो आरएसएस के लोगों ने कहा जब बराबरी का सौदा करना है तो दो बार आपने किया तो दो बार हमको भी मौका मिलना चाहिए तो दो बार का सौदा हुआ आप सोचते होंगे ठीक है 2014 का मेश राम जी आपके पास सबूत है 2019 का चुनाव तो अभी आया नहीं फिर आपके पास 2019 का सबूत कैसे है लो सबूत देता हूं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मगते ही उन्होंने ऐलान किया 2022 में सभी लोगों को घर दिया जाएगा अरे तो सरकार 19 तक है तो 22 में कैसे घर दोगे सभी को इसका मतलब है नरेंद्र मोदी ये मानकर चल रहे हैं कि सौदे के अनुसार तो 22 में भी हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे ये पहला सबूत दूसरा सबूत जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस सदाशिवम ने 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम मशीन पर फैसला दिया तो पैरा नंबर 29 में लिखा कि बगैर पेपर ट्रेल मशीन के चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता जस्टिस सदाशिवम ने अपने जजमेंट में लिखा प्यारा नंबर 29 में प्यारा नंबर 30 में लिखा कि चूंकि अभी तीन चार महीने में चौदह में चुनाव होना है तो इतने कम समय में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई जा सकती इसलिए चुनाव आयोग को रिलैक्सेशन दिया जाता है कि वो लोग अगर चुनाव बगैर पेपर ट्रेल के करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कुछ जगह लगाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है जितनी जगह लगाना चाहे लगा सकते हैं ये अधिकार उनको बहाल किया जा सकता है ये रिटर्न जजमेंट की कॉपी मेरे पास है काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं ये जजमेंट इस बात को सिद्ध करता है कि ईवीएम e मशीन के विरोध में प्यारा नंबर 20 में फैसला दिया और प्यारा नंबर 30 में इलेक्शन कमीशन को रिलैक्सेशन दे दिया आप लगाना चाहो लगा सकते हो नहीं लगाना चाहो लगा सकते हो और थोड़े लगाना चाहो थोड़े लगा सकते हो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में प्यारा नंबर 30 में लिखा हुआ है ये रिलैक्सेशन जिस जस्टिस ने दिया वो जस्टिस जब सरकार कांग्रेस की गई चौदह में बीजेपी की बनी बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद जब जस्टिस सदाशिवम रिटायर्ड हो गए तो दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने जस्टिस सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया बख्शिश नरेंद्र मोदी ने दिया मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया 2013 में बख्शिश नरेंद्र मोदी में चौदह में दिया क्या ये दस्तावेजी प्रमाण नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ईवीएम पर सौदा हुआ ये दूसरा सबूत तीसरा सबूत मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था ईवीएम के विरोध में मैंने ढाई घंटा भाषण दिया सारे सबूतों के साथ तो अहमदाबाद का एक रिटायर्ड हेडमास्टर अपने बेटे को मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था मेलबोर्न की बात है तो वहां कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो मुझे मिलने के लिए स्टेज पर आया और स्टेज पर आकर कहने लगा कि आप जो कह रहे हैं अभी बातें मैंने आपकी सुनी आपकी बात सही है हेडमास्टर रिटायर्ड ने मुझे कहा तो मैंने उस, मैंने उनको कहा कि मास्टर जी मैंने तो सबूत के साथ कहा कि इसमें घोटाला होता है आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है मैं कह रहा हूं वो सही है वो तो मेरे पास सबूत है मगर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सबूत है सही है कहा कि मेरे पास भी एक सबूत है तो मैंने पूछा क्या सबूत है कहा कि जिस स्कूल में मैं हेडमास्टर रिटायर्ड हुआ उस स्कूल के बच्चों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने स्कूल में बोलने के लिए बुलाया तो वहां आया और आने के बाद भाषण दिया भाषण देने के बाद नरेंद्र मोदी ने बच्चों को पूछा बच्चों आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछो एक बच्चा खड़ा हो गया उसने पूछा नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री बने हैं मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं कैसे बनूंगा बताइए नरेंद्र मोदी ने बच्चे को जवाब दिया 2024 तक मैं ही रहने वाला हूं आगे के बारे में सोचो ये बात उस हेडमास्टर ने मुझे ऑस्ट्रेलिया में बताई मैंने उसको कहा कि आप उस कार्यक्रम में उपस्थित थे कहा रिटायर्ड हेडमास्टर होने की वजह से मुझे इनवाइट किया गया था इसलिए मैं वहां हाजिर था मैं खुद इस बात का गवाह हूं मैंने अपने कानों से ये जवाब सुना तो मैं आप लोगों को ये तीन सबूत पेश कर रहा हूं इन सबूत के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि 2019 के चुनाव के लिए भी सौदा हुआ हुआ है और देश में ऐसे माहौल पैदा किया जा रहा है कि उन लोगों को जिनको दिल्ली में दोबारा सरकार बनानी है वो लोग इस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं कि हमें मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए बल्कि बगैर मुसलमानों के वोटों के ही हम दिल्ली में पहुंचेंगे इस तरह का काम करने में लगे हुए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बगैर मुसलमानों के समर्थन से आज तक दिल्ली में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनी ना बन सकती है हाँ एक तरीके से बन सकती है अगर ईवीएम में घोटाला करो तो बन सकती है अभी गुजरात में भी बीजेपी ने 27 सीटों पर घोटाला किया हमने इसका विश्लेषण किया तो हमारे पास इसका डाटा है 27 सीटों पर घोटाला किया जहां वो 100, 200, 300 वोटों से चुनाव जीते और वहां पर उन्होंने घोटाला करके ये चुनाव जीता रिजल्ट लगने के पहले अभिषेक मनु संघवी सुप्रीम कोर्ट में गुजरात चुनाव के विरोध में गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी रिजल्ट नहीं आया है इसलिए आपका केस अनुमान के आधार पर है आप ऐसा करिए रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट डाटा के साथ आइए डाटा आ गया डाटा आने के बाद कांग्रेस के जो वकील है अभिषेक मनु सोंगी सुप्रीम कोर्ट के वकील है सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजल्ट आने के बाद आने के लिए कहा था मगर अभी तक खबर नहीं आई कि वो गए वो जाने वाले नहीं है क्यों क्योंकि अभी डाटा अवेलेबल है तो कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ेगा ईवीएम में घोटाला होता है ये कहना पड़ेगा तो जज पूछेगा वकील साहब आप कांग्रेस पार्टी के हैं और जब पार्लियामेंट में ईवीएम मशीन लाने के बारे में 82 में बहस हो रही थी तो आपने भी इसका समर्थन किया था पार्लियामेंट में अभिषेक मनु भी ने और आप अभी बोल रहे घोटाला होता है कांग्रेस ने ही इस मशीन को लाया बीजेपी ने नहीं लाया 82 में जब 80 के दशक में यूरोप ने ईवीएम मशीन पर पाबंदी लगाई तो 82 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाने का फैसला किया तो मेरे पास सारा डेट वाइज रिपोर्ट है और ये सारा डेट वाइज रिपोर्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है लिखित तो रूप से और मैंने किताब भी लिखी है सारा क्रोनोलॉजिकल अमेरिका सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है ईवीएम मशीन नहीं है जापान टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एडवांस है कोई ईवीएम मशीन नहीं है किसी यूरोप में ईवीएम मशीन नहीं है जर्मन वालों ने लगाने का सोचा था जर्मन के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इस तरह से साथियों देश में आज इसके पहले आप लोग ऐसा मानते थे कि आप एमएलए को चुनते हो आप एमपी को चुनते हो आप देश का जो शासक वर्ग है सरकार को चुनते हो कल तक आप ऐसा कहते थे कि सरकार को आप चुनते हो मगर आज ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप लोगों के द्वारा सरकार चुनी नहीं जा रही है ईवीएम e मशीन सरकार चुन रही है ईवीएम e मशीन एमएलए और एमपी चुन रहे हैं आपके हाथ से ये अधिकार वोट का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है ये छीन लिया गया है ये बात साथियों बहुत भयंकर है आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस दायर किया तो रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट का है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तीन बार ऑर्डर देने के बाद मेरी केस उन्होंने हियरिंग के लिए ली आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जिस वकील को मैंने केस लड़ने के लिए लगाया था जब मैंने इंक्वायरी की कि मेरी केस हियरिंग को क्यों नहीं आई तो मैंने हैदराबाद के हमारे आदमी को सुप्रीम कोर्ट भेजा तो रजिस्ट्रार ने बताया आपके वकील ने तो आपकी केस विड्रॉ कर दी अरे मेरी केस और मेरे पूछे बगैर ही विड्रॉ कर दी हैरान करने वाली बात है सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने हमें बताया कि आपके वकील ने आपकी केस विड्रॉ कर दी मेरे केस का जो जूनियर लॉयर था तो मैंने प्लान बनाया कि अब जो सीनियर लॉयर है उसको अगर मैसेज देना है तो मैंने प्लान बनाया कि जूनियर लॉयर को मैंने एसएमएस किया और लिखा कि सीनियर लॉयर ने मेरी केस विड्रॉ कर दी है ये मुझे पता चला मेरे पूछे बगैर विड्रॉ कर दी ये मुझे पता चला और मेरे सीनियर लॉयर ने मेरे साथ विश्वासघात किया और ये विश्वासघात जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस है इसलिए इंडियन पीनल कोड के तहत मैं वकील के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करने जा रहा हूं तो मैं पहले से जानता था कि जब मैं जूनियर लॉयर को ये बताऊंगा एसएमएस तो ये एसएमएस सीनियर लॉयर को फॉरवर्ड हो जाएगा ऐसे हुआ जूनियर लॉयर ने सीनियर लॉयर को फॉरवर्ड किया तो सीनियर लॉयर ने जूनियर लॉयर को पूछा कि वामन मेश्राम कौन है कहा कि बहुत खतरनाक आदमी है कि कैसे तो वकील ने कहा कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि बार काउंसिल में आपके खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं और आप भविष्य में वकालत कैसे करते हैं मैं देखता हूं आपका सर्टिफिकेट आपकी सनद ही रद्द करवाता हूं क्योंकि आपने हमारे साथ विश्वासघात किया जैसे ही जूनियर लॉयर ने सीनियर लॉयर को बताया सीनियर लॉयर ने कहा अरे जल्दी से जल्दी उसको रोको कि वो बार काउंसिल में कोई मेरे खिलाफ में एप्लीकेशन ना करे जल्दी रोको मैं दोबारा रजिस्टर करता हूं वकील ने मुझे पूछा कि वो दोबारा रजिस्टर करने की बात कह रहे हैं क्या करे मैंने जोखिम उठाया और सीनियर लॉयर को कहा ठीक है दोबारा रजिस्टर करो उसने दोबारा रजिस्टर किया दोबारा रजिस्टर करते ही मुझे समझ में आया कि सीनियर लॉयर ने मेरे सीनियर लॉयर ने अपने आप केस विड्रॉ नहीं किया था मेरी केस भारत सरकार के खिलाफ थी मेरी केस चुनाव कमीशन के खिलाफ थी दोनों ने उस पर दबाव डाला होगा इसीलिए उसने विड्रॉ किया होगा जब मैंने उसको जेल में डालने की धमकी दी और केस डालने की बात की तब उसको लगा कि मुझे अपना बचाव पहले करना चाहिए बाद में भारत सरकार का बचाव करना चाहिए इसलिए उसने दोबारा रजिस्टर की तो इस तरह से मुझे जानकारी मिली और दोबारा केस जब रजिस्टर हुई तो भी रजिस्ट्रार ने तीन बार चीफ जस्टिस ने ऑर्डर देने के बाद ही हियरिंग के लिए केस लगाई हैरान करने वाली बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो जुडिशियल सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है इसके लिए मैं सबूत के तौर पर यह बात आपको बता रहा हूं और ऐलानिया बता रहा हूं और अगर <clears throat> सुप्रीम कोर्ट के लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये बात बताकर सुप्रीम कोर्ट की तोहिन कर रहा हूं अवमानना कर रहा हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहता हूं कि मेरे खिलाफ आप अदालत की अवमानना का केस दायर कर दे फिर मैं देखता हूं मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की केस दायर करे तो फिर मैं देखता हूं क्योंकि मेरे पास में ये सारे सबूत लेकर ही चल रहा हूं इसलिए साथियों मुझे चिट्ठी आ गई है क्योंकि हमेशा यही होता है कि जब मैं मौके की बात बोलने के लिए आता हूं तो मेरी चिट्ठी आ जाती है खैर मैं अपनी बात कहने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा मंच है मेरा अपना राष्ट्रीय स्तर पर मैं सारे देश भर में अपनी बात कह सकता हूं मेरे पास में विस्तार से अपनी बात कहने के लिए समय है साथियों मैं ये कहना चाहता हूं आखिरी बात कि देश की परिस्थितियां बहुत खतरनाक है मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हिंदू मुसलमान की एकता स्थापित करना चाहते हैं मैं आपके इस ओपिनियन से कोई खास उत्साहित नहीं हूं मैं ये चाहता हूं कि हम लोगों को दो तीन हजार साल से मजलूम बनाकर रखा गया है S C S T OBC को तो ये जो मजलूम लोग हैं आप लोगों को 15 अगस्त 47 के बाद मजलूम बनाने का कार्यक्रम चला और सच्चर कमीशन ने डॉक्यूमेंट्री बता दिया कि आपकी हालत शेड्यूल कास्ट से भी 60 साल में बदतर हो गई है इसका मतलब यह है कि सच्चर कमीशन इस बात का दस्तावेजी सबूत है कि हम दो तीन हजार साल के मजलूम हैं और आप साठ सत्तर साल के मजलूम हैं आप भी मजलूम बना दिए गए हैं हम पुराने मजलूम हैं तो मजलूम और मजलूम का इतिहाद कायम किया जा सकता है मजलूम और मजलूम की एकता कायम होनी चाहिए जालिम और मजलूम की एकता नहीं हो सकती मैं इसके समर्थन में नहीं हूं समर्थन में हो नहीं सकता कोई भी विवेकशील आदमी तो मजलूम और मजलूम की एकता कायम करने के बारे में आप लोगों को गंभीरता से सोचना होगा अगर देश की वर्तमान स्थिति में अगर आप कोई मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो मजलूम और मजलूम की एकता स्वाभाविक होगी ये दो लोग भाई बनाए जा सकते हैं इससे समस्या का समाधान संभव है इस बारे में आप विचार करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी इसके लिए आभार